फिर भी वो उसके जीवित रहने से आप लोगों को बहुत खतरा है तो अतः उसके बध का मैं उपाय बता दिए आप लोग जाइए तब यहाँ आप दसवां अध्याय हम प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग यहाँ आ रहे थे तो <laughs> हरिल प्रभु six ten six ten road number बताते तो हम भी सिक्स टेन पर चल रहे हैं <laughs> छठा स्कंध है और अध्याय दसवा है सिक्स टेन <laughs> श्री बादरायणी रुवाच श्री सुखदेव जी को बादरायणी कहते हैं भगवान वेद देव का नाम है बादरायण और बादरायण के पुत्र को बादरायणी कहते हैं कहीं कहीं पाठ भेद है श्री सुख उवाच भी है तो श्री बादरायणी ने कहा कि इंद्रम एवं समादिश्य भगवान विश्व भावन पश्यताम अनिमेषाणाम अंतर दधे हरि तो भगवान विश्व भावना विश्व का पालन करने वाले श्री हरि विष्णु देवताओं इंद्र को एवं समादेश्य सम आदेश्य सम्यक आदेश देकर समझा बुझा करके चाहना तो ऐसे मांगना ऐसे प्रणाम करना उनको ये करना वैसे करना और इस तरह से वृत्रासुर का वध होगा इसको कहते हैं समादेश सम का अर्थ सम्यक आदेश का अर्थ है सुझाव आर्डर इंद्रम एवं समाधि से इस प्रकार इंद्र को सम्यक आदेश देकर तत्रैवांतर्दे हरि वहीं पर अंतरहित हो गए वे कहीं गए नहीं ऐसा नहीं कि जाते समय ऐसे हाथ कर रहे हो ठीक है मैं चल रहा हूं कह नहीं वहीं तत्र एवं अंतर्दध है वहीं पर अंतरहित हो गए ये भगवान की शक्ति है देवता तक उनकी कृपा भगवान की कृपा से ही देवता भगवान का दर्शन कर पाते हैं और भगवान जब चाहे तो अपने को छिपा लेते हैं पश्यतम अनिमेषाणाम देवताओं को अनिमेश कहा जाता है उनकी आंखों की पलक नहीं गिरती है देवताओं की विशेषता है वे धरती पर पैर नहीं रखते हैं और उनकी आंखों की पलक नहीं गिरती है इसलिए उनको अनिमेश कहते हैं तो अनिमेश जिनकी आंखों पर निमेश नहीं है पलक नहीं है वे देवता एक टक देखते रहे एक टक क्या होता है एक टक है ही <laughs> जब पलक गिर जाता है इसको दो टक कहते हैं देवताओं पर क्या पर पलक है ही नहीं वो सब देख रहे थे आश्चर्यचकित होकर भगवान के रूप तेज सबको देख रहे थे देखते देखते वहीं भगवान अंतरित पश्यताम अनिमेशा नाम तत्रैव दधे हरि हरि उनके मन को नेत्र को चुरा कर भगवान हरि अपने सौंदर्य से वहीं अंतरित हो गए तो भगवान हरि की एक विशेषता बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी विश्व भावना भावना का अर्थ होता है पालक जन्मदाता संपूर्ण विश्व के पालक और जन्मदाता भगवान हैं तो उन्होंने सोचा कि वृत्रासुर का जीवित रहना विश्व के पालन में गड़बड़ी पैदा करेगा भले वो मेरा भक्त है लेकिन उसका वध होना चाहिए विश्व भावना शब्द का ये अर्थ कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं इस संसार में कि उनको मारना जरूरी होता है उनके जीवित रहने से और लोगों को कष्ट होता है तो विश्व भावन भगवान हरि इंद्रम एवं समादेश्य अन्वेषाणाम पश्यताम तत्र एवं अंतर्दध है वही अंतर्हित हो संस्कृत भाषा बहुत कड़ी भाषा नहीं है लेकिन लोग नहीं समझ पाते इसीलिए कि सुनने को मिलता नहीं है पढ़ने को मिलता नहीं है जो भाषा लगातार व्यवहार में आती है व्यक्ति उसी को जानता है परंतु हमारा समस्त वैदिक साहित्य संस्कृत में है इसलिए संस्कृत समझने का प्रयास करना चाहिए बहुत सरल है रविंद्र को भगवान ने आदेश दिया ऐसे जाओ दधीचि ऋषि के पास तब तथा भी याचितो देव ऋषि राथर्वण महान मोद मान चेदम प्रहसन निव भारत श्रील सुखदेव स्वामी संबोधन करते हैं परीक्षित को हे भारत हे भरत वंशी अर्जुन है परीक्षित भारत भगवान ने गीता में भी अर्जुन को बार बार भारत कहा है भरत वंश में जो उत्पन्न हुआ है उसको भारत कहते हैं तो हे भारत तथा अभियाचित महान अथर्वण ऋषि मोदमान वाचेदम प्रहसन निवा तो जब इंद्र ने ठीक ठीक भगवान जैसे सिखाए थे वैसे जाकर के प्रणाम किए और ठीक भगवान से पूछे थे कि क्या क्या बोलना चाहिए कैसे बोलना चाहिए पहले क्या बोलना चाहिए तो भगवान ने एक एक बात सिखाया था कि ऐसे बोलना ऐसे करना तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तथा अभियाचित जथा भगवता प्रोक्त तथा इंद्रेण अथर्वण ऋषि याचित जैसे भगवान ने सिखाया था वैसे जाकर मांगे पहले दधीची मुनि ने देवताओं से पूछा कहा कि अहो मैं भाग्य मेरा बहुत बड़ा भाग्य है आप सब देवता हमारे आश्रम पर पधारे हैं मैं आपकी क्या सेवा करूं अपनी संकोच हमको बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं तो इंद्र ने भगवान के सिखाए हुए तरीके से कहा कि हम आपके देह को लेकर इसको काट कर अस्त्र बनाना चाहते अरे बाप रे बाप कोई किसी के पास जाए और कहे कि हम आपको काट कर एक हथियार बनाना चाहते हैं चाहे किचन में कुछ पकाना चाहते हैं कौन स्वीकार करेगा देह में कितनी ममता है कितनी आसक्ति है जीव की और दधीची से जाकर ऐसे कहा गया तो इंद्र की प्रार्थना से दधेची ऋषि मोदमान बहुत प्रसन्न हुए बहुत खुश हो गए मन में कहा मेरा ये अधम दे देवताओं का हित करेगा मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य आखिर देह एक दिन चला ही जाता है इसको जला दिया जाता है जमीन में गाड़ दिया जाता है या दूसरे जीव खा जाते हैं और यह देह यदि देवताओं के काम में आए तो अहो मैं भाग्यम मेरा बहुत बड़ा भाग्य है मन में बहुत प्रसन्न हुए परंतु देवताओं के मुख से धर्म का उपदेश सुनने के लिए कि दूसरे जीव भी सीखें इसके लिए उन्होंने प्रतिकार करते हुए से कहा प्रहसन नहीं हो देवताओं का उपहास करते हुए कहा दधीची ऋषि ने कहा अपि वृंदारका जोयम न जानी था शरीर नाम संस्थायाम जो स्तभिद्रोह दुस्सह चेतना पह हे वृंदारक हे देवताओं देवता लोग समूह में रहते हैं इसीलिए उनको वृंदारक कहा जाता है और वृंदारक का एक अर्थ होता है सब कुछ जानने वाले दूसरे के सुख दुख को जो जानते हैं उनको वृंदारक देवता कहते हैं दधीची मुनि ने कहा प्रसन्न मन से लेकिन ऊपर से ऐसा लगा कि वो देना नहीं चाहते हैं प्रतिकार से कर रहे हैं कहा कि हे देवताओं आप लोगों को मालूम नहीं है क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि शरीर त्यागने में मरने में प्राणियों को कितना कष्ट होता है दुस्सह चेतना पह व्यक्ति मूर्छित हो जाता है सह नहीं पाता है शरीर का वियोग असमय में किसी को मारा जाए काटा जाए शरीर छोड़ने को बाध्य किया जाए कितना कष्ट होता है जीव छटपटाने लगता है जब मृत्यु का समय आता है इसको दुस्सह और चेतना पह चेतना खत्म हो जाती है जीव मूर्छित हो जाता है और सहन नहीं कर सकता इनटोलरेबल होता है क्या आप लोग नहीं जानते हैं कैसे आप लोगों ने साहस किया मेरा देह मांगने का मुझे तो आश्चर्य हो रहा है मैं तो समझता था कि हमारे आश्रम पर देवता आए हैं मैं नहीं जानता था कि इतनी संख्या में बाघ है आकर के खड़े हैं जो हमारे देह को खाना चाहते हैं आप लोग कैसे मांगने का साहस किए कौन दे, देह दे सकता है देवता तो सभा का, का हो गए क्या भगवान जिसकी प्रशंसा कर रहे थे और कहे कि वो मांगने पर दे देंगे दधीची मुनि कहते हैं जिजी विषुणाम जीवा नाम आत्मा प्रेष्ठ ही है प्सिता क उत्साह तम दातुम भिक्षमाणा है विष्णु में प्रत्येक जीव के लिए प्राणियों के लिए शरीर ही सबसे प्रिय वस्तु है सबसे प्रिय शरीर है प्रेष्ठ यह एप्सित सबसे अधिक जिस वस्तु की आदमी कामना करता है वो है शरीर की सुरक्षा और शरीर ही देह ही सबको सब ज्यादा प्रिय है किसी भी तरह से व्यक्ति अपने शरीर का पोषण करना चाहता है तो आप लोग कैसे मांगे कौन दे सकता है तो देवताओं ने कहा हम लोग नहीं आ रहे थे आपके पास लेकिन भगवान विष्णु ने भेजा यही समझिए कि विष्णु अस्मन मुखे न याचते भगवान ही मांग रहे हैं आपसे केवल मुंह हम लोगों का है केवल माउथ हमारा है बाकी आप यही समझिए कि विष्णु हमारे मुख से मांग रहे हैं तो दधीची मुनि कहते हां भिक्ष माना है विष्णवे मैं मानता हूं कि विष्णु ने ही सबको देह दिया है शरीर दिया है प्रत्येक जीव को तो भगवान ने दिया है भोजन दिया है भोग दिया है शरीर दिया है लेकिन ऐसे भगवान डायरेक्ट आकर के साक्षात आकर के अगर किसी से मांगे कि शरीर दो तो कौन देगा भगवान को भी नहीं देगा कौन देगा भिक्ष माना है विष्णु ने यदि विष्णु भीख मांगे कि अपना देह दे दो तो नहीं देंगे जबकि वही देह दिए हैं प्राणी को <laughs> ठीक आप लोग कहते हैं कि आप यही समझिए कि हमारे मुख से विष्णु मांग रहे हैं मैं मानता हूं लेकिन कौन देगा हम तो ऐसा नहीं कर सकते भीतर से तो प्रसन्न थे देना चाहते थे लेकिन ऊपर से कह रहे थे इस संसार में और किसी को मान लीजिए कोई नहीं दे सकता है लेकिन भगवान को तो सर्वस्व देना चाहिए क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ है तो दिए वस्तु गोविंद तुभ्य में वसमान पाए सब कुछ वास्तव में कृष्ण का दिया हुआ है देह मान बुद्धि धन घर स्वजन जो कुछ भी एक जीव के साथ है ईशावास्यमिदम सर्व सब कुछ कृष्ण का दिया हुआ है इसीलिए कृष्ण की सेवा में इस देह को लगा देना चाहिए कृष्ण की सेवा में धन खर्च करना चाहिए कृष्ण की सेवा में स्वजनों को लगाना चाहिए अपनी पत्नी को अपने पुत्र को भाई को सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए क्योंकि उनका दिया हुआ है पर दधीची मुनि यह कह रहे हैं कि प्राणी को शरीर इतना प्रिय है कि यदि भगवान भी आकर के मांगे कि ये दे दो देह तो क उत्सहे तो तम दत्त देने की बात तो दूर है मन में कोई उत्साह भी नहीं कर सकता है देने का सोच भी नहीं सकता कि इस देह को देंगे अरे देह का कोई देगा विष्णु के आगे मस्तक झुकाना कठिन होता है देह क्या देगा कोई कई बार हम लोग कहते हैं सष्टांग प्रणाम कीजिए सष्टांग प्रणाम कीजिए तो शरीर को सुलाना भगवान के सामने कितने लोगों के लिए पहाड़ हो जाता है और जबकि घर में बेड पर वो सोते हैं कई घंटा परंतु भगवान के सामने पैर पसार कर हाथ आगे करके प्रणाम करने में नानी मर जाती है माम नमस्कुर भगवान कहते ये देह मुझे अर्पण करो प्रणाम करना भी एक अर्पण करना है देह मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिन तुआ पदे नंद किशोर भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि हे कृष्ण हे नंद महाराज के पुत्र मेरे पास जो कुछ भी मेरा मन है बुद्धि है देह है गेह है गेह का अर्थ है हमारी पत्नी बच्चे जो कुछ भी धन आदि है सब मैं आपके चरणों में अर्पित करता मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिल तुआ पद नंद किशोर आपके चरणों में अर्पित किया और जो भोजन बनावे उसको अर्पण करें शरीर अर्पण करें वचन अर्पण करें यदि भगवान ने बोलने की शक्ति दिया है तो उनके विषय में ही बोलना चाहिए उनके नाम का जप करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम दधीची मुनि कहते हैं माणा या विष्णवे यदि विष्णु भी आ करके सचमुच में गिड़गिड़ा कर मांगने लगे तब भी कोई नहीं दे देगा जबकि वही दिए हैं दे <laughs> सबको हम लोग कैसे मांगे तब देवता लोग कहे आपस में एक दूसरे पर देख करके कहे कि देखो भगवान जिसकी प्रशंसा कर रहे थे ओ देवा उच्च किम तदुस्तेजम ब्रह्मन पुंसाम भूतानुकंपिनाम श्री देवताओं ने कहा यह तो ठीक है आप कहते हैं कि प्राणियों को देह बहुत प्रिय है लेकिन आप जैसे भक्त भी देह में ही इतना आसक्त रहे तो आश्चर्य होता है <laughs> देवता भी तो खूब कमाल से बोलते हैं हे ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानते हैं भगवान को जानते हैं भौतिक प्लेटफॉर्म से ऊपर है उनको ब्रह्म ब्राह्मण कहते हैं तो हे ब्राह्मण आप जैसे व्यक्ति के लिए क्या दुस्त्यज है क्या आप देह को आत्मा मान रहे हैं आप देह को बचाना चाहते अभी भी आपकी देह में आसक्ति रह गई अरे बाप रे बाप इतना बड़ा भक्त और अभी जीना चाहे इस शरीर में जबकि ये पोशाक की तरह है तो आप जैसे जो पहुंचे हुए महात्मा हैं उनके लिए क्या दुस्त्यज है वे क्या नहीं दे सकते हैं क्या नहीं त्याग सकते हैं भूतानुकम पिनाम आप जैसे जो महान हैं प्राणियों पर अनुकंपा करते रहते हैं वे प्राणियों के हित के लिए भगवत विधाना महता आप जैसे महात्माओं के लिए क्या दुस्त्यज आपकी महिमा बड़े बड़े लोग गाते हैं यहां तक कि साक्षात भगवान भी अपने मुखारबिंद से आपकी बड़ाई कर रहे थे और हम आपके आश्रम पर आकर देखे कि ये भी सामान्य जनता जैसे देह में ही आसक्त रहा देवता लोग बोल रहे हैं कि हमें आश्चर्य होता है कि आपकी भी देह में ऐसी आसक्ति रह गई सबकी चेतना भिन्न भिन्न होती है तो एक भक्त की चेतना जो इतना दिन भजन किया और वो अभी दूसरे के समान देह में आसक्त रह जाए तो भजन का फिर क्या परिणाम हुआ है ये धर्म का उपदेश है वास्तव में प्रकारांतर से देवताओं के मुख से धर्म का उपदेश है कि जो महान हैं देह से ऊपर उठ चुके हैं देह को पराया समझ चुके हैं आत्मा से भिन्न समझते हैं वो देह में बहुत लिपटे नहीं रहते हैं देह के सुख दुख पर बहुत विचार नहीं करते हैं आत्मा के का हित करते हैं तो पूर्ण श्लोक कर्मणाम जिनकी कीर्ति महान है ऐसे बड़े बड़े लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और यहां तक कि पूर्ण श्लोक भगवान भी आपकी प्रशंसा करते हैं तो आप जैसे ऋषि के लिए भक्त के लिए क्या दुस्त्यज आप ठीक कहते हैं कि प्राणियों को देह बहुत प्रिय है लेकिन किसको देह प्रिय है जो माया में पड़े हुए हैं आत्मा को नहीं जानते हैं वो देह को ही सर्वस्व मान करके देह के सुख स्वच्छंद के लिए प्रयास करते रहते हैं तो आप भी क्या अन्य प्राणियों जैसा देह में ही रह गए आपको देह प्रिय है नूनम स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति न जदीश्वर हम तो समझते थे कि आप महान व्यक्ति हैं हम लोगों से ऊपर के हैं लेकिन जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं कोई अंतर नहीं दिखाई दिया हम रो रहे हैं जीने के लिए और आप भी अभी कर्पण दिखा रहे हैं जीने के लिए इतना वृद्ध हो गए हैं फिर भी जीने से आपका मन नहीं भरा <laughs> और अपने तरफ देख करके और ऋषि दधीची के प्रति देख कर कहते हैं कि नूनम स्वार्थ परो लोग निश्चित हुआ नूनम का अर्थ निश्चित ही सभी व्यक्ति संसार में अपने स्वार्थ के फेरे में पड़े हैं परमार्थ करने वाला कोई नहीं दूसरे का हित करने वाला कोई नहीं सब स्वार्थी न वेद पर संकटों स्वार्थी आदमी एक दूसरे का संकट नहीं समझता देवताओं के कहने का आशय था कि हम भी हम नहीं जानते थे आपका संकट कि आपको देह देने में इतना कष्ट होगा